वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा फरमाया फिर एक नुतफे कतरे से फिर जमे हुए खून से फिर वो तुम्हें बच्चे की सूरत में निकालता है फिर तुम जवानी को पहुंचते हो फिर तुम बूढ़े हो जाते हो और तुम में वो भी हैं जो इससे पहले वफात दिए जाते हैं और ताकि तुम मुकर्रा वक्त तक पहुंच जाओ और ताकि तुम हकीकत को समझो